नहीं है एक लोग खड़ा होता है महाराज जो करता होता है वही भोगता होता है पुरुष की जरूरत क्या बीच में दूसरा यह क्रियावान शैव करता शैव भोगता जो क्रियावान होता है वही करता है वही भोगता भी है तो निष्क्रिय पुरुष से निर्गुण निराकार निष्क्रिय निष्कल पुरुष निरवय पुरुष को मानने की जरूरत क्या ये आत्मा कैसा पुरुष को ऐसी आत्मा को मानने की जरूरत नहीं है आत्मा वो मानो जो सगुण है चौदह प्रकार के गुणों वाला है इसे कर्तृत्व भोक्तृत्व वाला आत्मा को मानो ये जो पुरुष आप मान रहे हो अपरिणामिनी अप्रति अप्रतिसंक्रमा है ना ये सब शब्दावली इनकी है सांचर का निर्गुण निराकार विशुद्ध देव ऐसे भी पुरुष को मानने से क्या रहा ऐसे पुरुष को मानने की कोई जरूरत नहीं है पूर्व पक्ष नहीं आएगा भी बोलते हैं कथम तो फिर उसके अंदर ऐसे स्थिति में या तो निष्क्रिय पुरुष को मानो मत अथवा दूसरा अक्षय भी होता है निष्क्रिय पुरुष ने भोक्तृत्व कैसे मान रहे आप पुरुष को भोक्ता मानते हैं ना कहते जो निर्गुण निष्क्रिय है अपरिणामी है उसे भोक्तृत्व कैसे सुख दुख का भोग कहां से हो सकता है जो परिणामी है सुख ग्रहण से बड़ा फूलेगा दुख ग्रहण से चेहरा मलानित हो जाता है ये सारी चीजें परिणाम है ना ये तो परिणामी वस्तु में सुख दुख का भोग हो सकता है अपरिणामी पुरुष यदि है उसके अंदर भोक्तृत्व तो भी संभव दो तरह का आक्षेप उसको एक ही सूत्र से दोनों के लिए जवाब दे रहे हैं चितेर अप्रतिसंक्रमाया तदाकारा पत्तो स्वबुद्धि संवेदनम कथे क्षिति तो हमारे मत में अप्रतिसंक्रमा ही होगी वह अपने आप किसे कभी संबंध हुआ ही नहीं उसका उसका किसी के साथ प्रतिसंक्रमण नहीं हुआ है संबंध हुआ ही नहीं है लेकिन फिर भोक्तर तो कैसे आ गया तदाकार आपत्तो बुद्धिवृत्ति के साथ तत्स बुद्धिवृत्ति उस बुद्धिवृत्ति तो- के आकार आपत्त उसके साथ सादृश्यता की प्राप्ति होने के कारण से ये अप्रति संक्रमा जो चित विशुद्ध चैतन्य ब्रह्म है पुरुष है आत्मा है निर्गुण निराकर निष्क्रिय जो तत्व निष्कल तत्व उसमें क्या हो गया सबुद्धि संवेदना अप्रति संक्रमा वाली चित्त शक्ति का भी स्वबुद्धि अनुरूप संवेदन होने लगता स्व आत्मा संबद्ध नहीं हुआ पुरुष है लेकिन बुद्धि की विचित्रता यह है वो तो इधर से उधर से दोनों तरफ समुद्र इसलिए हम लोग चंद्रमा के दृष्टान दर्पण का दृष्टान क्या है दर्पण क्या कर रहा है दोनों तरफ से संबंध है उसका सूर्य की तरफ संबंध है और विषय की ओर संबंध दर्पण से आप जब प्रकाश छोड़ते तो विषय प्रकाशन होगा ना किस वस्तु का प्रकाशन होता है तो वहां पर क्या है उस दर्पण का संबंध उधर सूर्य के सूर्य ने दर्पण से संबंध नहीं किया सूर्य तो सर्वत्र फैला हुआ है क्यों दर्पण से संबंध है क्या उसका नहीं है इसे आपको मानना पड़ेगा दर्पण उपाधि विशेष के सामर्थ्य है उसने अपना बिंब रूपा सूर्य के साथ संबंध जोड़ लिया और साथ साथ उस बिंब से प्राप्त सामर्थ्य को प्रतिबिंबात्मक के तरह प्रयोग करता हुआ किसी विषय विशेष का प्रकाशन कर लेता है अतएव दर्पण का संबंध दो के साथ है सूर्य के साथ भी और विषय के साथ भी चंद्रमा का भी दो के साथ संबंध है सूर्य के साथ भी और इस पृथ्वी के साथ भी उधर से आया प्रतिफलन करके पृथ्वी पर छोड़ दिया दोनों के साथ संबंध है इसी पर बुद्धि का भी दो के साथ संबंध है एक चिति के साथ पुरुष के साथ और सर जगत के साथ पुरुष से संबंध करता हुआ पुरुष क्या ले लेती है चेतनता को ले लेती है खुद अचेतन होता हुआ अपने आप को चेतन मानने लगती है और साथ साथ क्या कर रही है उस चेतनता को लेकर के वस्तु का प्रकाशन करके अहम दुखी अहम सुखी भी बोल लेती है लेकिन विचित्रता यह है अपने आप में अचेतनता को चेतन मान लगती है लेकिन अपने में रहने वालों को पुरुष में डाल ये उल्टा चालाकी बुद्धि का चल रहा है अनाधिकार वहां से चेतनता तो आ गया अपना खुद अचेतन होता हुआ अपने में चेतन मान लिया और खुद में जो सुख दुख भोग हो रहा है वो विशेष आया हुआ है और उसको ले जाकर के पुरुष में डाल दिया अगर पुरुष भोगता है वो भोग कर रहा है सुख दुख को उसको मैं मोक्ष दे रही हूँ संसार या मोक्ष दोनों बुद्धि के द्वारा ही पुरुष को दिया गया वो क्यों ऐसे कर पाती है क्योंकि बीच में ना दोनों के साथ संबंध इसलिए वास्तव में चैतन्य का जो पुरुष आत्मा ब्रह्म का अप्रसंक्रमा अपरिणामी मानने में कोई आपत्ति नहीं होगा अपरिणामी ही भोक्तृ शक्ति अप्रतिसंक्रमा भोक्तृ शक्ति जो आनंद रूपता भोग शक्ति है आत्मा का पुरुष का वो अपरिणामी है और वह किसके साथ संबंध भी नहीं रखती है अप्रतिसंक्रमा है और परिणामिनी अर्थे प्रसंक्रांता इव हुआ क्या है वो परिणामी रूप जो पदार्थ है बुद्धि उनके साथ प्रति संक्रांत संबद्ध के समान दिखाई संबंध हो नहीं सकता इसे प्रति संक्रांत तदवृत्तिम अनुपद और लगता है यह पुरुष भी इस बुद्धि से होने वृत्ति के अनुरूप ही हो जा रहा जैसा वृत्ति नाच रही है वैसे वो भी नाचता हुआ लगता है जैसे अंगुलिया नाचते हैं ना सूर्य का प्रकाश आ रहा है वो अंगुलिया यू यू कर रहे हैं आप उससे वहां क्या दिख रहा है लगता है चिड़िया उड़ रही है चिड़िया चुग रही है ये हो रहा वो हो रहा बहुत सारी चीजें दिखा सकता है कलाकार होते हैं इन वास्तव में क्या प्रकाश ही नाच रहा है, है? प्रकाश नहीं नाच रहा है वो अंगुलिया हिल रहे हैं लेकिन उसकी प्रतीक्षाया ऐसे दिखाई दे रहा है मानव प्रकाश नहीं है हेरा आज के, के सिनेमा घरों में भी यही तो होता है एक लाइट होता है कुछ नहीं और सामने जो फिल्म आता है फिल्म बोलता है वो जो भागता है दौड़ रहा है तेजी से तो उसका कमाल है प्रकाश तो नाच नहीं रहा है वहां पे ना आदमी नाच रहा है और फिल्म के जो है ना रंग जैसा वगैरह होता है उसके अनुसार वहां आपको दिखाई फिर वास्तव में है वहां क्या है प्रकाश ही सोपाधिक को पेड़ प्रकाश सामान्य प्रकाश उपाधि के वशा विशिष्ट प्रकाश पर्दे में दिखाई दे रहा तो उसी प्रकार यहाँ पर भी है सामान्य प्रकाश इस बुद्धि के कारण से विशिष्ट प्रकाश जगदा कारण भाषित हो है इसी के कहते देखो तस्वीर कहते हैं वो कैसा है अपरिणामी है अप्रति संक्रांता है लेकिन प्रति संक्रमण किए हुए के समान तदवृत्ति के अनुरूप चार नाचते हुए के समान दिखाई देता है तस्याश्च प्राप्त चैतन्योपग्रह स्वरूपाया बुद्धिवृत्ते है अनुकार मात्रतया बुद्धिवृत्ति अविशिष्टा ही ज्ञान वृत्ति आख्याय तस्याश्च प्राप्त चैतन्योपग्रह स्वरूपाया बुद्धि है तदवृत्ति अनुपतति है ना तदवृत्ति अनुपतति इसको तदाकार आपत्ति कहा गया सूत्र में तदाकार आपत्त जो कहा उसको करे तदवृत्ति अनुपतति उसी की व्याख्या करे तब से क्या लेना तस्या तस्या कस्या बुद्धिवृत्ते नहीं बुद्धिवृत्ते है आगे दे रहे तस्या बुद्धिवृत्ते है कीदृशी बुद्धिवृत्ति बीच में कहा प्राप्त चैतन्योपग्रह स्वरूप आया जिसने में जिससे बुद्धि बुद्धि ने कैसी है वो अपने अंदर वह चैतन्यता का स्वरूप को ग्रहण कर ली है अर्थात चैतन्य का जो संबंध अपने आप में वो कर ली है इसे कहते प्राप्त चैतन्य उपग्रह स्वरूप आया है अनुकार मात्र उसके अनुकरण करने मात्र से व्यवहार क्या हो गया बुद्धिवृत्ति अविशिष्ट ज्ञान वृत्ति तार बुद्धिवृत्ति से अविशिष्टता को प्राप्त हो गया इसी को हम क्या कहते हैं ज्ञान वृत्ति नाम से भी कहते हैं तथा चुक्तम इस विषय में पंचशिकाचार्य का यह कथन भी है न पाताल न च विवरम गिरीणाम नैवान्धकारम कुक्षयो नोधीनाम गुहा यश्याम हितम ब्रह्म शाश्वतम बुद्धिवृत्तिम अभिष्टाम कवयो वेदयंते न पाताल न च विवरम जीर्णाम नहीं बंधकारं कुक्षयोरोध धीराम न पाताल में कहीं अंधकार नाम की चीज है न विवरों में है न गिरियों में है न तो आपके कुक्षी में है नो दी नाम न समुद्र में जिस गुहा में वो शाश्वत ब्रह्म निहित है यश्याम गुहा में गुहायाम सप्तमी में वहां दुख हो गया यश्याम गुहायाम नीतम ब्रह्म शाश्वत जिस गुहा में नीत है शाश्वत ब्रह्म वह गुहा पाताल नहीं है ऐसा अनुवाद कर दिया वह पाताल नहीं है वह कोई पर्वत की कंधरा नहीं है वह कोई विवर गिरी नाम विवरम में पर्वतों के कंधराओं में से नहीं लेना नहीं अंधकारम न वो अंधेरा रूपा है न समुद्र के गर्भ में उदीनाम नाम न किंतु कविगण क्या बोलते हैं कवयो वेद उस गुफा जिसमें शाश्वत ब्रह्म निहित है उसे केवल ज्ञानी पुरुष लोग अनुभव कर पाते हैं लेकिन कैसे समझ रहे हैं उस लोग लेकिन बारह पंडित जब ग्रहण करते हैं तो कैसे ग्रहण कर रहे हैं उसे अविशिष्ट बुद्धि रूप का बुद्धि वृत्ति उस ब्रह्म को वो साक्षात देख रहे हैं कैसा देख रहे हैं वो बुद्धि से संयुक्त अविशिष्ट भाव को प्राप्त हुआ बुद्धि से जो है क्या हो गया संबद्ध के समान अनुभव करते हैं हर एक बुद्धिवृत्ति के साथ उसको देख रहे हैं चैतन्य को अरे देखो ये बुद्धिवृत्ति वास्तव बुद्धिवृत्ति नहीं है तो जड़ उसके साथ जो चेतनता है वही आत्मा है ऐसे उस चैतन्य जो स्वरूप है हर एक वृत्ति के साथ जुड़ा हुआ जो स्वरूप है उसको ग्रहण कर पाते इसी को परिषद में कहा प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्व भी विंदत जो व्यक्ति बोधम बोधम प्रति अर्थात बुद्धिवृत्तिम बुद्धिवृत्तिम प्रति हरेक बुद्धिवृत्ति के साथ जुड़ा उस चेतनता को जो समझ लेता है जो ग्रहण कर पाता है वही व्यक्ति मोक्ष को पा सकता है इसे योगाभ्यासियों को क्या कर चिदाकाश धारणा होते मन चल रहा है आप अलग होकर देखते रहना देखते देखते देखते ऐसा स्थिति भी आ जाएगा आप विषय वहां होते हुए विषय को नहीं देख रहे हैं उस विषय के चैतन्य मात्र ग्रहण कर रहे हैं कि हर एक वृत्ति में चैतन्य चैतन्य के बिना कोई वृत्ति नहीं चैतन्य के बिना कुछ भी नहीं है तो वृत्ति कैसे हो सकती है आते चैतन्य विशिष्ट होकर के आपको हर एक वृत्ति चल रही है लेकिन हम लोगों का समस्या क्या है हम उस वृत्ति का विषय की ओर ध्यान देते हैं वृत्ति का जो अधिष्ठान का चेतन पर ध्यान देते देते इसे वृत्ति है उसमें भी दो चीजें एक तो विषय है एक चैतन्य लेकिन हम चैतन्य पर ध्यान नहीं देते हैं विषयों पर ध्यान अब जिस दिन हम लोग चैतन्य पर ध्यान देने लगेंगे तो अमृतत्तम भी विंद थे तो प्रत्येक लाभ शुरू में हर वस्तु के साथ में जो है ना वृत्ति के साथ में चेतन ना भी पकड़ में आवे ना उसके बीच को पकड़ लेंगे तो भी काम चल जाए एक वृत्ति उठा नीचे गया फिर दूसरी वृत्ति आ रही ना उस बीच का जो स्थान होता है यहाँ विषय था इधर भी विषय है लेकिन एक विषयाकार वृत्ति को छोड़कर दूसरे विषय को ग्रहण करने से पहले एक सामान्य आकार होगा वृत्ति का उस समय विषय रहित चैतन्य है वहाँ विषय रहित वृत्ति में जो चैतन्य है वो आसान है ग्रहण करना विषय युक्त वृत्ति से विशिष्ट चैतन्य को ग्रहण करना बड़ा कठिन है क्यों तुरंत मन बुद्धि अहंकार आदि का ऐसी स्वभाव ऐसी वासना है खटित सीधा विशेष दिवस चला जाए एक कोई चले या बाहर पायल की आवाज आ जाए सब का दिमाग खटवा चले कौन आ गई दिमाग खटित ही चले क्योंकि वो जो वृत्ति ऐसी विचित्र विषयाकार वृत्तियां हर एक विषय एक दृष्टान्त है घाट पट मठ कोई भी चाहे राग कहो चाहे द्वेष कहो चाहे काम कहो चाहे काम कहो कोई भी चीज आओ हमेशा आपका दृष्टि तुरंत ही विषय की ओर जाए ऐसी स्थिति हमें ढूंढ रखा है शास्त्रकार ने बता दिया है जहाँ पर निर्विषय वृत्ति चैतन्य भी है वहां कब है जिसे घटाकार वृत्ति हो रखा है अयंगटक ज्ञान हो रहा है उसके बाद अयंगटक ज्ञान कैसे होगा तो दो ज्ञानों का बीच में एक ऐसी अवस्था होगी वह वृत्ति इस घट को त्याग रही है और पट को ग्रहण कर रही है इस बीच में का ऐसा क्षण होगा जहाँ पर न घट है न पट है इसको समझने के लिए और दृष्टान समझ सकते हैं दूध है मान लीजिए दूध है ना आप उसमें जामन डाल दो जामन डालने के बाद तुरंत दही बन जाएगा क्या है नहीं दो चार घंटा लगेगा ना आप तुरंत उसको दूध कह सकते हो क्योंकि अभी भी अभी अभी डाले ही हो निकाल दो तो दूध के रूप प्रयोग भी कर लो पी लो अच्छा गर्म नहीं करना फट जाएगा पीने का काम तो आ जाएगा तुरंत भी जहाँ नीचे चला जाता है दही का हिस्सा बैठ जाएगा और ऊपर ऊपर दूध पी लो आप क्या अच्छा, अभी वो दूध है एक घंटे भर बाद क्या है दही है अरे देखा बना अभी वो न दूध है न दही है वो कुछ खिचड़ी पता है क्या है नाम कुछ नया देना पड़ेगा ढूंढो नया नाम एक नाम कम देना पड़ेगा चिट्टू है पिट्टू है कुछ नाम देना पड़ेगा उसका अब हाँ, न दूध है न दही है इतना तो पक्का है ना जो बीच अवस्था है वो फटना शुरू हो गया अब पूरा दही बना नहीं उधर दूध नहीं रह गया वो बीच अवस्था में वह न दूध है न दही अत्यंत विलक्षण है तद्वत यहाँ भी समझिए न घटाकार वृत्ति है न पटाकार वृत्ति है किंतु वृत्ति है ये भी नहीं कह सकते यहाँ कुछ नहीं है चलो दूध नहीं दही नहीं कुछ नहीं जैसे तो अरे कुछ है वो वही दही बनेगा बाद में लेकिन क्या है या विशिष्ट रूप ग्रहण नहीं कर पा रहे तत्व वहां पर भी एक वृत्ति हटकर दूसरी वृत्ति जब बने रहती बीच में सामान्य कर वृत्ति होगा जिसको अमुक विषय से विशिष्ट कहा नहीं सकेंगे आप वह वृत्ति में क्या है अब केवल चैतन्य उसको ग्रहण करने के लिए कहा जाता है बस बैठो देखो वृत्ति चल रहा है पहले पहले आदत यही रहता है तो विषय को देखते रहेगा क्या क्या चला सीरियल वो सीरियल पर ध्यान रहता है कि धीरे धीरे धीरे स्थिति ऐसे बनेगी वो सीरियल क्या है मालूम ही नहीं आपको आप बैठे हैं वो वृत्ति का सामान्य चेतन में चले जाते और पीछे क्या रहा है क्या जा रहा है आपको उसे कोई लेन देन नहीं इसको प्रतिबोध मतम से समझाया है तो उसमें दूसरे शब्दावली में कह रहे हैं विद्वान लोग उस स्थिति को पकड़ते हैं जहां पर न ये है न वो है न वैसा है न वैसा है सर्वधर्म रहित केवल वृत्ति अवचेतन चेतन है उसी समय उस हरेक बुद्धि वृत्ति के साथ से चेतन हुए जब एक बार आप ग्रहण कर लो घट रहते वक्त भी आपको चेतन सहज ब्रह्म अवस्था हो जाता है पुरुष निष्ठा एक बार पा लिया बस सारा संसार चलते रहे क्या बल ऊंट की कहानी याद रखना है है ना ऊंट पर नगाड़े बजे बड़े बड़े कुछ नहीं हुआ तो डफली का बजने से क्या होगा वेदांत सबसे बड़ा दृष्टांत बहुत मजबूत दृष्टांत है ये दो चार दृष्टांत ऐसा है तो भैंसो हम भैंसो हम बहुत काम की चीज है और ये ऊंट का दृष्टांत इतने तो अनंत ब्रह्मांड जिस पर कल्पित है फिर भी उस आत्मा कुछ कंपन तक नहीं हुआ आज तो छोटा सा ये जो आपके अपनी क्षुद्र जगत पति बच्चे कच्चे वाले छोटा सा संसार ये क्या बिगाड़ेगा आत्मा को कभी नहीं हो सकता है इसे वो दृष्टि को लाने के लिए स्थिति आएगी ऑटोमेटिक जो बड़ा से बड़ा भी दुख के छाप लेते भयंकर से भयंकर स्थिति भी आ जाए आंधी तूफान हो जाए एक सुमानी क्या है कोई और भी कहा जाए कोई फर्क नहीं पड़ता ये सब आया दृश्य चला गया इसलिए कहते हैं कि वो बुद्धिवृत्ति अविशिष्टा बुद्धिवृत्ति में कवियो वेदयंते विद्वान पुरुष लोग ज्ञानी पुरुष लोग उसको ग्रहण करते हैं अतचेत अभ्युगम्य थे इसलिए हमारे मत में ये सारा खेल चित्त का है आत्मा का है नई जगत विषय का है इन दोनों का बीच बैठा हुआ जो बुद्धि है ना जो चित्त है उसी का खेल है दृश्योपरक्तम चित्तम सर्वार्थम एक तरफ दृष्टा आत्मा पुरुष चैतन्य है दूसरे तरफ दृश्य जगत घटपटाद्याकार है इन दोनों से ऊपर रक्त जो चित्त है इन दोनों से संबद्ध जो चित्त है उसने क्या किया है वही सर्वार्थम भवती अर्थात भोग मोक्षार्थ भोग अपवर्ग उभयाथम भवती अपने सिद्धांत और कैसे ला रहे धीरे धीरे मोक्ष की ओर ले जाने के लिए कैवल की ओर ले जाने के लिए सारी बात उठाते आ रहे विभिन्न मतों का खंडन करते हुए सिद्ध कर दिया अंत में कि भाई ये पुरुष का कोई दोष नहीं है तो जगत का भी बना रहे कोई लेन देन नहीं है बीच में जो खटपटिया है एक व्यक्ति है उसका नाम है चित्त बुद्धि मन जो भी बोला करण आदि शब्दों से कर वो दोनों से ऊपर इधर दृष्टा से उधर दृश्य मनो ही मंतव्य नर्तन उपक्तम तत्स्वयं विषय विषयत्वात् विषीण्य पुरुषेण आत्मीय वृत्तिया अभिसंबद्धम मनो ही मंतव्य न उपक्तम मन मंतव्य जो अर्थ है तद द्वारा सदा उपरंजित रहता है तथा वह स्वयं भी विषय होने से यानी मन में क्या है तब स्वयं के विषयत्व मन भी दृश्य वो भी विषय है इसलिए विषयीणा पुरुषेण विषयी कौन है सकल विषयों का विषयी दृष्टा पुरुष है उस पुरुष के द्वारा आत्मीय वृत्तिया अभिसंबंध उस पुरुष के साथ मन ने क्या किया अपनी ही वृत्ति के द्वारा संबंध जोड़ लिया अपनी ही वृत्ति से संबंध जोड़ लिया इसे कहते ना कि वो पूर्ण नाविक का दृष्टान क्यों देते हैं वो जो कीड़ा होता है मकोड़ा जैसो मकड़ी जैसा मकड़ी नहीं मकड़ी जैसा एक विशेष होता है वो करता है अपने ही निकाला लुता तंतु कहते अपने ही मुंह से जूठा निकालता है और जूठा छोड़ते जाता है तो वो रस्सी बन जाती धागा बन जाता है नीचे अब उससे निकला वो चल के आया नीचे नीचे आया लेकिन संबंध ऊपर से जोड़ रखा है कि नहीं किससे जोड़ा अपने मुंह से निकला हुआ से जोड़ा कि नहीं तो दूसरा धागा नहीं अपने ही से वो निकला हवा से संबंध जोड़ा रखा है पेड़ के साथ और उधर नीचे कीटाणु के साथ जोड़ दिया कीटाणु पर विषय को वो खाने के लिए आ रहा है तो उसको भी पकड़ लिया मुंह में और फिर उधर संबंध भी जोड़ रखा है और फिर उसी को खाते खाते खाते ऊपर पहुंच जाता है और उसमें बैठ जाता है वैसे हम लोग भी कर रहे हम अपनी वृत्तियों से चैतन्य से संबंध जोड़ रखे हैं और जागृत और सपने क्या कर रहे हैं विषयों को पकड़ रहे हैं और इन सारे वासना रूप में लेकर के उसी पोषण ग्रंथ में हो जाता है तो संबंध जोड़ा किस हम आए वहां से नहीं इन वास्तव में हम अपनी ही वृत्तियों से संबंध जोड़ रहे इसे कहते हैं उस आत्मा के साथ उस पुरुष के साथ यह मन सकल विषयों के साथ पुरुषों से जो उपरक्त होता हुआ भी अपना खुद विषय होने के नाते विषयभूत उस पुरुष के साथ में स्ववृत्ति के द्वारा आत्मीयावृत्त अभिसंबंधम भवती तदेद चित्तम एवं दृष्टि दृश्य पर इसलिए निरक्षता क्या निकला ये जो चित्ता है मन को हो बुद्धि को हो अंतकरण को जो भी है वो जो वस्तु है ना वही क्या हो रखा है दृष्टा के साथ और दृश्य के साथ दोनों के साथ संबंध बना रखा है विषय विषय निर्वासम और क्या हो गया ऐसे लगता है मानो ये मन क्या कर दिया है मेरे विषय को भी प्रकाशन कर रहा है मेरा आत्मा को भी प्रकाशन करने लग रहा है विषय का भी निर्भास कर दिया और विषय ही का भी निर्भास कर दिया ऐसा लगता है चित्रता है ये पावर हाउस देखे ना पावर हाउस जब बिजली बनती है जब बिजली बन रही है वहां लाइट नहीं है है क्या ये वहां से निकला हुआ बल्ब फिर उसी को प्रकाशित कर देता है उसमें टर्बाइन होते हैं और जो लगा रखा है जनरेटर वगैरह जो बिजली की प्रोडक्ट कर रहे हैं वहां का प्रकाश है क्या नहीं वहां से निकला प्रकाश बिजली रूप में आया ना कहा आया वो तारों के जो बल्ब में आ गया और बल्ब क्या कर रहा है अभी आपको जगत को भी दिखा रहा है और जनरेटर को भी दिखा रहा है उससे निकला प्रकाश उसी मूल को प्रकाशित करने की जैसा लगता है वास्तव में क्या उसको प्रकाशित कर सकता है स्थूल दृष्टान दे रहा हूं ये विचित्रता है वही यहाँ पर मन ने भी कर दिया है वैसे चेतनता को लिया और लग कर क्या रहा है जगत का प्रकाशन करके सर मानो एक तरह से उस चेतन को भी प्रकाशित कर दिया विषय विषय निर्भाषम चेतन अचेतन स्वरूप और अपने आप को क्या मानने लगा चेतन अचेतन उभय रूप अपने आप को मानने क्योंकि वो जानता है मैं जड़ हूं यूं उसके बिना चीज नहीं पाता ना चेतन के बिना इसलिए अपने आप का स्वरूप चेतन नहीं मान रहा किंतु चेतन अचेतन उभयात्मक तो अपने आप को मान चेतन अचेतन स्वरूपापन्नम विषयात्मकम अपनी और धीरे धीरे ऐसी भ्रांति हो जाती है ये भूल ही जाता है मैं चेतन अचेतन उभयात्मक फिर क्या ग्रहण करता है मैं ही प्रकाश सारी दुनिया को प्रकाश हृदय विषयात्मक होता हो अभी अपने आप को क्या माना अविषयात्मक अपने आप को विषय ही मान लिया सर्व प्रकाशक अपने आप को मान लेता है खुद क्या है यद्यपि विषय था विषय है आत्मा का विषय है ज्ञान का विषय बन रहा है मन फिर भी अपने आप को विषय ही मान लिया अविषयात्मक मान लिया स्वयं और कैसा है वो अचेतनम अपनी सन चेतनम इव अचेतन होता हुआ भी अमन मन या चित्त या अंतकरण बुद्धि अपने आप को चेतन मानने लगती दृष्टान स्फटिक मणिकल्पम स्फटिक मणि के समान जैसा उपरक्त हुआ स्फटिक मणि अपने आप को लाल मणि मान ले लाल मणि मानने मात्र से वो स्फटिक लाल मणि नहीं हो जाता जपा कसमोपरक्त होने से उसमें लालिमा मा गया है लेकिन उसी मात्र से अभिमान भी कर ले मैं लाल मणि हूँ तो लाल मणि नहीं हो सकता तो मन भले अभिमान कर ले मैं अविषय हूँ विषय हूँ मैं चेतन हूँ ऐसा अभिमान करने मात्र से ही और वास्तव में चेतन हो जाता है न विषय हो सकेगा ऐसा होकर कर क्या रहा है सर्वार्थम इस प्रकार से सर्वार्थ हो गया अर्थात दृष्टा का और दृश्य का दोनों के लिए उपयोगी बन गया तद अने चित्त सारूपेण भ्रांता के चित्त इसी चित्त की सारूप्यता से भ्रांत होकर के ही वो बहुत दारियों ने पूर्व में चर्चा जिनकी हो चुकी है उन्होंने क्या बोला क्षणिक विज्ञान क्षणिक चित्त क्षणिक था चित्त जो है ये क्षणिक है उसमें अंदर विज्ञान तो आरोपित लेकिन उन्होंने क्या मान लिया वो विज्ञान जो है सत्य है और वो क्षणिक उल्टा कर तद अनिल चित्त सारूपी इस चित्त का चिति के साथ चित्त का चिति के साथ सारूपित प्राप्त होने के कारण से लोगों की अंदर भ्रांति हो गई भ्रांता के चित तदेव चेतन क्या हो उसी क्षण विज्ञान रूप को ही आत्मा है यही चेतन है यही ब्रह्म है ऐसा ग्रहण कर लिया लोगों ने प्रक्रिया बता देना कैसे हुआ है भ्रांति का सारी प्रक्रिया समझा दिया वास्तव में वो विषय होता हुआ अपने आप को विषय ही मान लिया अचेतन होता हुआ चेतन मान लिया ये क्रम है इसका लेकिन उसको समझे बिना लोगों ने भ्रांति पकड़ लिया इसी को चेतन मान और चेतन होता हुआ परिणाम है ना अति उसको क्षणिक भी कह दिया इस प्रकार से एक भ्रांत दर्शन है वो अपरेतु विज्ञान मात्रवाद लोग क्या कहते हैं चित्त मात्र में वो इधम सर्व नास्ती कलो एवं गवादर घटानिष्ठ सकारण और दूसरे लोग तो ऐसा भी चित्र है विज्ञान मात्रता से थी कभी विज्ञान से जगती विज्ञान ही सब कुछ विज्ञान से भिन्न जगत नाम का चीज ही नहीं बिल्कुल माया इसको लेना आप योगाचार को तो बाह्यार्थ को बिल्कुल नहीं मानते बाह्यार्थ सौत्रांतिक और वैभाषिक मानते रहे अनुमेय है प्रत्यक्ष उन दोनों खंडन करते हैं नहीं नहीं विज्ञान से कुछ भी नहीं है ऐसे मानने वालों को तो विद्या करनी पड़े क्या है चित्त मात्र में विदम सर्वम नास्तिक प्रपंच सकारणों लोग अनुकंपनीय बेचारे दया के पात्र कृपा के पात्र बेचारे वो लोग क्योंकि उन्हें अपनी भ्रांति पकड़ में आ नहीं रही है उनको अपनी भ्रांति समझ में नहीं आ रही और भ्रम को दूर न करना बड़ा कठिन काम है जिसको भ्रम हो जाए उस भ्रम को निकालोगे किसी के मन में आपके प्रति भ्रांति हो जाए और आप समझ रहे आप बहुत बुरे आदमी हैं आप उस भ्रांति को दूर करेंगे कैसे आप सफाई देंगे तो मान लेगा वो वो क्या कर रहे अपने आप बड़े बता रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं हूँ ऐसा नहीं हूँ लेकिन और लेकिन घुसा ही देगा जो उसके दिमाग में है गड़बड़ कर उसके भ्रम निकलने में बहुत समय लगेगा वो रहे साथ में आपके व्यवहार होते रहे अनुभव होते रहे आपको देखेगा समझेगा तब समझ में आएगी नहीं नहीं ये उतने साल पहले हमने इनको गलत समझा दिया दो चार दिन का खेल नहीं बहुत समय लगता है भ्रांति दूर करना भ्रांति होने में तो दो चार सेकंड की बात है ज्यादा समय नहीं है भ्रांति होने चार आदमी कान फूंक रहे आप गेता तो आपके दिमाग भ्रांति फैल जाएगा आप देखे ही नहीं हमें तो भी आपके दिमाग में हो तो गड़बड़ है और कई लोग किया बहुत बढ़िया करी श्रद्धा हो गया क्यों सुन करके सकल तो देखा नहीं ना कल तो समझा है है ना ना हमारे सकल देखा किसी ने ना हमारे अकल को देखा लेकिन सुना है बहुत बड़े हैं बहुत अच्छे विद्वान है तो श्रद्धा बनी हुई है तो दोनों बातें होती चाहे भ्रांति हो चाहे अभ्रांति हो दोनों ही बनने में देर नहीं लगता तो इसको तोड़ने में बहुत समय लगता है भ्रांति को तोड़ना बड़ा कठिन काम और किस अंत श्रद्धा हो जाए उस अंत श्रद्धा को तोड़ना भी कठिन काम और जब बीच वाली श्रद्धा होती है टूटने में देर नहीं लगता अंधश्रद्धा हो ना फिर वो टिका है और जहां पर स्वार्थ को लेकर श्रद्धा बनी रहती ना वो तो चार ही दिन में खत्म हो जाता है क्योंकि पूरी गणित खोपड़ी में चलती रहती स्वार्थ की गणित चलती रहती जहां आपसे चिपका उसी क्षण से चालू कर देगा आपकी गणना करना ये मेरी कितनी स्पर्शित कर पाएगा इनके संग्रह से मेरा क्या लाभ होगा वो पूरी गिरी जो उसकी खोपड़ी में चलती और चार दिन के अंदर आपको नाप डालेगा ये इतने की इलाज है छोड़ो इनको बेकार आदमी उनसे लाभ नहीं होने वाला इसलिए बड़ा मुश्किल काम होता है श्रद्धा जो है ना स्वार्थिक श्रद्धा सबसे खत्म इसलिए भगवान ने कहा श्रद्धा वाला बोते ज्ञान और समझना पड़ेगा कौन सी श्रद्धा की बात कर रहे हैं ये जो मरकट श्रद्धा नहीं होनी चाहिए तो इसलिए कहते देखो यहाँ कि वो जो है ना इन लोग अनुकंपनी आते कसना क्यों ऐसे कह रहे हो अस्थि तेषा भ्रांति बीजम सर्वरूपाकार निर्भाषम चित्तमित उनके भ्रांति का कारण हम समझ रहे हैं कि सर्वरूपाकार निर्भाषम चित्त ये मान लिया है चित्त क्या है सकल स्वरूप का निर्भाषण करने वाला है आत्मा विकल्प प्रकाशन कर सबका प्रकाशन वही करते वही प्रकाश रूप है वही आत्मा है वास्तविक ऐसा भ्रांति होना कोई बड़ी बात नहीं है सबको हो रखा है उन्हें हुआ क्या है वही बात है सभी यही मान रहे मई आता हूं मैं ब्रह्म और सब क्या मान रहे विशिष्ट को लेकर नाच रहे अहम ब्रह्मास्मि अनुभव जो कर लेगा तो उस अनुभूति के पश्चात ये तो नहीं हो सकता है तुम ब्रह्मनोसी हो गया यदि अहम ब्रह्मास्मी तरी तो सर्वमेव ब्रह्म ब्रह्म भिन्नम न किंचित ब्रह्म से कुछ भी नहीं ब्रह्म ही कल्पित है जब कल्पित सब कुछ उसमें अभिन्न नहीं रहेगा है ना जब अभिन्न नहीं रहेगा तो भिन्न कैसे ग्रहण करेगा वो और मैं ब्रह्म तुम ब्रह्म नहीं है ये कैसा बोल देगा इसका मतलब उसका ब्रह्मानुभूति हुई नहीं इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि वो सभी के अंदर ये समान भ्रांति हो रखी जो जो जो ज्ञानी चाहे वो वेदांति है चाहे नहीं आए चाहे सांग के जिसने मोक्ष नहीं पाया है उन सभी के अंदर यह भ्रांति सर्वसामान्य है जो उन लोगों ने विशिष्ट को जो था उसी को ही अपना समझ रखे हैं शरीर आदि विशिष्ट जो मैं वही आत्मा पकड़ अस्थि तेषाम भ्रांति उन लोगों के भ्रांति का बीच स्पष्ट यहाँ विद्यमान दिखाई दे रहा है क्यों स्वरूपाकर निर्वासन चित्त यही है बीच समाज प्रज्ञायाम प्रज्ञेयो अर्थ प्रतिबिंबीभूत तस् आलम्बनी भूतत्ता अन्य जो दूसरा वास्तविक है वो क्या होता है वो जो समाज प्रज्ञा में ही प्रज्ञा जो होती है ना समाज प्रकृति को कहते हैं प्रज्ञा जो विवेक ख्याति से अध्यात्म प्रसाद से जो उत्पन्न हुआ है जो वो जो प्रज्ञा में प्रज्ञा रूपा जो अर्थ होता है वास्तव में शुद्ध जो आत्मा होता है स्वरूपता जो आत्मा है पुरुष है वो अलग ही होता है वो एक खिचड़ी नहीं है वो वो प्रतिबिंबी भूता भूता तस् आलम्बनी भूतता प्रज्ञा जो तो अर्थ है वहां जो प्रज्ञ रूपा जो अर्थ होता है प्रज्ञा के द्वारा जो जाना जा रहा है जो हाँ तो वो कैसा होता है अरे चित्त के आलम्बनी रूप है चित्त का भी वो प्रतिबिंब कौन है चित्त चित्त में प्रतिबिंब पड़ा है तो प्रतिबिंब का भूत कौन हो गया चित्त उस चित्त का भी प्रकाशन ये तब मालूम तब आपको समझ में आ जाता है ये तो दर्पण के समान फालतू चीज था तो सारा चमत्कार कर दिखा रहा है भ्रांति हो गई थी इसलिए उस समय आपको प्रतिबिंब चैतन्य का अधिष्ठान जो था चित्त वो समझ में आ जाते प्रतिबिंब भूत तस् आलम्बनी भूत क्योंकि जो है उस चित्त का भी आलम्बनी भूत होने के कारण उससे वो भिन्न है तथो अन्य सच्चेद अर्थ चित्त मात्र कथम प्रज्ञ प्रज्ञा रूप में यदि वह अर्थ भी चित्त मात्र होता यह विषय चित्त मात्र होता तो कथम प्रज्ञा व प्रज्ञारूपम प्रज्ञा से प्रज्ञा स्वयं का कैसे कर डालेगा कर्तृक विरोध हो जाएगा ना प्रज्ञा प्रज्ञा में रूपम में वह कथम अवधारिय मेरे तो कर्ता कर्म का विरोध होगा स्वयं से स्वयं को विषय रूपेण ग्रहण करना असंभव है स्वयं से स्वयं कोई विषय रूप में ग्रहण करना अर्थ रूप में ग्रहण करना असंभव है स्वयं आप जब दृष्टा है या जो है निश्चायक है अध्यवसाता है तो उस समय आपसे अध्यवसित विषय भिन्न ही होगा आप स्वयं भी विषय भी हो गए और विषय भी आप बन गए ये दोनों नहीं हो सकता है कर्म करते विरोधा तस्मात प्रतिमिभूतो अर्थ प्रज्ञायाम ये न अवधारित सब इसलिए भूत सकल पदार्थ जिस प्रज्ञा में दिखाई दे रहा है प्रज्ञायाम प्रतिबिंबूतो अर्थ ये नवधार्यते अवधार्यते प्रज्ञा में वृत्ति में उत्पन्न जो प्रतिबिंबूत पदार्थ है वह जिसके द्वारा निश्चित की जाता है उस वस्तु का नाम ही पुरुष है एवं ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्य स्वरूप चित्त भेदात त्रयम जाति प्रविजनते सम्यक दर्शन इसलिए वे लोग जो लोग इस ग्रहित्री ग्रहण और ग्राह्य स्वरूप वाला इस चित्र का भेद को सम्यक प्रकार से ग्रहण कर पाते हैं में भी ये तक जाति तब ने स्वभावता ये तीनों अलग अलग है ग्रहिता पुरुष ग्राही ग्राहीभूता जगत ग्रहण रूपा जो चित्त ये तीनों अलग है यानी चित्त ने क्या कर रखा उन दोनों से संबद्ध करता हुआ तीनों के एकीकरण कर दिया सम्मिश्रण करके विशिष्ट रूप में ग्रहण करा रहा है वास्तव में सब अलग अलग है इनका कभी कोई संबंध ही नहीं हो सकता है उस बात को ये समय ये समय सिन्हा जो लोग समय दर्शी लोग इसको प्रभाव पर ग्रहण करते हैं तैर एव अधिकता पुरुषा उन्हीं के द्वारा समझो पुरुष का स्वरूप ज्ञात हो गया ये ग्रहित ये पहले लेना पड़ेगा क्योंकि ते बोल दिया ना आगे में इससे पहले ये जो लोग ग्रहित्री ग्रहण ग्रह स्वरूप चित्त भेद को तीनों को अलग अलग स्वभाव से भिन्न भिन्न करके ग्रहण करते हैं ते एव समय दर्शन तैरव पुरुषोपी अधिगत कुतश्चित चित्ता भोक्ता कथम एक चित्त से भी भिन्न कोई पुरुष है जो चित्त के विषयों को और चित्त को सबको प्रकाशन कर देता है और अत्यंत विलक्षण है अत्यंत भिन्न है ऐसे क्या प्रमाण है क्योंकि अनुभव में तो सदा विशिष्ट हो रहा है जागृत और स्वप्न में जैसे आएंगे आप वो मिश्रित ही रहता है अलग करके प्रकरण में नहीं आता और समाज प्रज्ञा में भी आप कह रहे हैं वहां चित्त अर्थ रूप में दिखाई देता है देखने वाला है वो अर्थ है वो है वृत्ति भी होगी वहां भी त्रिपुटी आ गई ना फिर भी हाँ त्रिपुटी वहां भी है इसलिए तो हमने कहा है ग्रहण ग्रहित्री और ग्राह्य तीनों को पृथक रूप में अनुभव में आता है ये विशेषता है वहां जैसे एक रश्मि जो आ रही है उस रश्मि में उस जो है किरण में सातों रंग है लेकिन किसी को दिखाई नहीं देता अब उसके लिए प्रसम लगा दे प्रसम बोलते हैं उसमें छोड़ दो दूसरे किरण को सात अंग निकल आते विशिष्ट माध्यम पर छोड़ा गया ना एक विशेष अवस्था के माध्यम से पार कर दिया तब उसका अलग अलग स्पष्टीकरण तो, जो सामान्य रूप में बने हुए जागृत स्वप्न सुशक्ति खिचड़ी अनुभव हो रहा है पता नहीं चलता अलग अलग है ये लेकिन जब समाज प्रज्ञा प्रिज्म में इसको छोड़ दोगे यही वृत्तियां क्या करेगी फिर आपको अलग अलग अलग दिखाई सुस्पष्ट चीज वही ढाल दिया आपने समाज प्रज्ञा रूपी वस्तु के अंदर ढाल दिया है तब वो सब अलग अलग दिखा अब एक बार जब अलग अलग करके विवेक ख्याति हो गया है ना ये जो सत्य अनृत का मिथुरीकरण का पार्थिव्यता का अनुभव हो जाना ही विवेक ख्याति विवेक मने पृथक पृथक्व का ख्याति मने ज्ञान हो जाना अन्यता ख्याति भी इसको बोलते अन्यत्व का ज्ञान हो जाना जो असंभिन्न कर निसमिश्रित के रूप में अनुभव में आ रहा है इस समय उसका असमिश्रित्व का दृढ़ निश्चय हो जाना अनुभव में आ जाने का नाम ही इनके यहाँ समाधि है उस समाधि प्रज्ञा में सारा अलग अलग दिखाई देते हैं है तो उस पर वो कैसे मानेगा वो दूसरे लोग तार्किक वगैरह जो होते बहुत दादी इन बातों को मानेंगे इसलिए कहते हैं हमें कोई और प्रमाण दो कहते प्रमाण सुनो तद असंख्य वासना विश्चित्रम अपनी परार्थम संहत्य कारित्वा कदे चित्त भी द्वेश क्यों सहत्य कारित्वा परार्थ संघात कोई भी संघात रूपा वस्तु होता है वो अपने लिए नहीं होता वो अपने से भिन्न के लिए ही होता है जैसे मकान है एक संघात इसमें ईंट लगा है लोहा लगा है बजरी लगी सीमेंट लगा रेत लगा दुनिया भर लग गया वही चीजें बन मिल लकड़ी पकड़ी लगा लो करके आपने बना दिया इस चीज ये जो संघात है इसलिए बना अपने लिए है वो कि संघात से भिन्न आपके लिए तो संघात से बने आप उसी प्रकार आपका ये जो संघात है शरीर यह भी अपने लिए ये भी परार्थ प्राप्त ये शरीर शरीर के लिए है क्या नहीं यह स्थूल शरीर आप सुख अभिमानी जीव के लिए वह जीव भी जीव के लिए नहीं अपने स्वरूपानुभूति के लिए जो तो भी संघात है कोई उन्नीस तत्व इक्कीस तत्व सत्रह तत्वों वाले शरीर मानो उसका बीमारी जीवात्मा मानते हो और वो भी अविद्याभिमानी कर्ण शरीर में जाओ फिर वो कर्ण शरीर भी अपने में नहीं वही की हेतु तो। संघात स्थूल शरीर भाई जगत को लिया घटा है क्या है परार्थ संघात अन्य पदार्थ मठाधिवत अति स्थूल को लिया फिर घटाओ स्थूल शरीरम परार्थ प्रार्थम संघातत्वाद घटवा सूक्ष्म परार्थम संघातत्वाद स्थूल शरीरवत कारण शरीरम परार्थम संघातत्वाद सूक्ष्म शरीरवत हो गया ना तो कारण शरीर भी परार्थ किम तत्परम यर्थम इदम कारण शरीरम तदेव पुरुष है वही अब ये कोई कहते पुरुषो भी परार्थ है अरे संघात बनेगा नहीं असंघात रूप न परार्थित सिद्धम